बस जब वो उसको करीब से देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने कुफ्र किया और कहा जाएगा कि यही है वो जिसको तुम मांगा करते थे